जिसने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श और आसमान को छत बनाया और आसमान से पानी नाजिल फरमाया फिर उस पानी के जरिए तुम्हारे खाने के लिए कुछ फल निकाले तो किसी को अल्लाह के मद्दे मुकाबिल न ठहराओ जबकि तुम ये बात जानते हो